किसी प्रकार हम अभ्यास करते हैं हम चेतन हैं जड़ नहीं हो सकते हैं हम शरीर से परिच्छिन्न मालूम हो रहे हैं आज राड में प्रकाश दिख रहा है तो मालूम होता है कि प्रकाश इतनी बड़ा है डेढ़ फीट दो फीट का प्रकाश है यह प्रकाश की आकृति नहीं है यह राड की आकृति है राड में प्रकाश दिखता अवश्य है पर प्रकाश बिल्कुल पृथक है रात बिल्कुल पृथक है चेतनता की अभिव्यक्ति इसी शरीर में हो रही है पर चेतन बिल्कुल पृथक है शरीर बिल्कुल पृथक है साढ़े तीन हाथ का शरीर हो सकता है साढ़े तीन हाथ का चेतन नहीं हो सकता यदि साढ़े तीन हाथ के इस परिच्छेद को जो है अलग करके हम अपने स्वरूप का विचार करेंगे तो हमको परिच्छिन्न कौन कर सकता है किसी की शक्ति नहीं कि आपको परिचिन कर दे पर साढ़े तीन हाथ को लेकर के इसी में चेतनता को लेकर के हमारा स्वरूप साढ़े तीन हाथ का मालूम होता है जब ऐसी परिस्थिति आती है माया की कि सारा समझने पर भी ये जगत को चित्त छोड़ता नहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि व्यवहार में तो जगत की ही प्रधानता है और व्यवहार तो सबको करना पड़ता है व्यवहार में पैसे की भी आवश्यकता होती है व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है मकान की भी आवश्यकता होती है ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है ये बात ठीक है यार पर ये कोई आवश्यक नहीं कि आवश्यकता होने पर उसके साथ आपका ममत्व ही जुड़े ये कोई आवश्यक तो नहीं एक किराए के मकान में एक व्यक्ति रहता है जीवन भर व्यवहार करता है पर ममत्व उसका जुटता है जो उस मकान में रहता नहीं कभी इसलिए व्यवहार बाधक नहीं है इसमें समझ बाधक है हमारी समझ में कहीं न कहीं गड़बड़ी है अब कहो कि समझ नहीं सुधरती तो क्या उपाय किया जाए कहा कि फिर तुम अहंता नहीं छोड़ सकते शरीराभिमानी हो तुम शरीराभिमानी भी दो प्रकार का होता है यहाँ पर कौन सा शरीराभिमानी लिया गया है शास्त्रानुसार चलने वाला शरीराभिमानी लिया गया है अशास्त्रीय व्यक्ति की बात यहाँ पर नहीं है शास्त्र कहता है कि एक नर है और एक वा नर है नर है जो नियम से चलता है शास्त्र के अनुसार चलता है वह नर है और विकल्प से नर आधा नर हाफ माइंड आप लोग तो किसी को हाफ माइंड शास्त्र कहता है मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानर अश्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा हमारे मन में जो आया वहीं हम जा रहे हैं मन कहा सिनेमा में तो सिनेमा में चले गए विचार कुछ नहीं किए उसका मन जैसा कोई वस्तु पड़ी है मन कहा उठा लो उठा लिया मन जैसा कहता है वैसा हम चलते हैं तो शास्त्र कहता है कि तुम वानर हो बंदर नहीं शास्त्र कह रहा है विकल्प से तुम्हारा शरीर तो मनुष्य का दिखाई देता है पर अंदर से तुम नर नहीं हो अभी अंदर से तो धर्मी नहीं न पशु भी समान वा नर अपने को नहीं बनना चाहिए हाँ श्रुतयु यत्र गच्छन्ति शास्त्र जैसा कहता है शास्त्र हमारा हितैषी है आप कहो शास्त्र की बात ये समझ में ना आवे तो क्यों मानना नहीं आप इस जगत के स्थिति को जरा विचार करके देखिए इसमें जीवन में एक समय शक्ति का उद्रेक होता है पर अनुभव नहीं रहता है ये विडंबना है जगत में शक्ति तो बड़ी तीव्र गति से ऊपर जा रही है पर अनुभव नहीं है और अनुभव आएगा तो शक्ति बुढ़ापे में अनुभव आने पर शक्ति का ह्रास हो जाता है और जवानी में शक्ति उछलती है तो अनुभव नहीं रहता है अपने ऋषियों ने इस तत्व को बड़े गंभीरता से लिया क्या कोई ऐसा उपाय है कि ये शक्ति व्यर्थ खर्च न हो इसका कोई उपाय है कि उपाय नहीं है ऋषियों ने देखा कि यदि जबरदस्ती योग को दबाया जाता है तो उसके अंदर ग्रंथि बनती है और ग्रंथि बनने के बाद वह विद्रोही बन जाता है उसके जीवन में कल्याण का मार्ग रुक जाता है इसलिए बलात् जबरदस्ती युवक को किसी प्रकार दबाया नहीं जा सकता है और दबाने का परिणाम भी अच्छा नहीं हो सकता है परंतु एक श्रद्धा तत्व है और श्रद्धा तत्व मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त है इसको मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज जो है इस विषय पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है जन्म से ही प्राप्त है आपको कह दिया बालक को कह दिया ये तुम्हारी माता है उसने कभी विकल्प नहीं किया कि मेरी माता नहीं इसको कह दिया तुम्हारा पिता है उसके मन में कभी विकल्प नहीं आया कि मेरा पिता नहीं है उसको कह दिया तुम्हारी ये जाति है उसने कभी विकल्प नहीं किया उसको कह दिया घट है उसने विकल्प नहीं किया जैसा जैसा उसको कहते गए हम उसी प्रकार जो है वह स्वीकार करता गया श्रद्धा के बिना स्वीकृति ये नहीं हो सकती इस श्रद्धा को आज की शिक्षा ने अंधविश्वास करके उड़ा दिया वह श्रद्धा ही हमारे जीवन का मूलभूत तत्व है जिसके आधार पर ही आज तक हम सीखे हैं नहीं तो कुछ भी सीख नहीं सकते वह हमारे अंदर प्रतिष्ठित है श्रद्धा तत्व उसका अपमान ही हमारे जीवन की उन्नति का जो है अवरोध उसमें अवरोध उत्पन्न करना है ये श्रद्धा तत्व में सबसे बड़ी चीज है इसमें ग्रंथि नहीं बनेगी आप बिना अनुभव के दूसरे की बात दूसरे के अनुभव को स्वीकार कर लेंगे और ग्रंथि आपके अंदर नहीं बनेगी आपके जीवन में कोई गतिरोध नहीं आएगा इसलिए श्रद्धा तत्व को जो मनुष्य की अपनी स्वयं की संपत्ति थी जिसके आधार पर ही इसका जीवन जो है वह विकसित हो रहा था उसको खूब पुष्ट किया ऋषियों ने और देखा गुरु में अनुभव है शिष्य में शक्ति है उस अनुभव के द्वारा इस शक्ति का यदि संचालन हो तो कहीं शक्ति का अपव्यय नहीं हो सकता है शास्त्रीय अनुभूति है वह अनुभव है कोई बुद्धि का तर्क नहीं अनुभव है ये अनुभव हमारे सामने है हम उसको समझ नहीं सकते हैं यदि सब जिस जिस तत्व को ऋषियों ने हजारों वर्ष की तपस्या से साक्षात्कार किया था उस तत्व को हम सहज अपनी बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं और उसको हम यदि मान लेंगे तो निश्चित ही हमारे उन्नति का मार्ग खुल जाएगा श्रुति यहाँ बड़े प्रेम से कहती है कोई बात नहीं मेरे पुत्रों हो तो अमृत से पुत्र आप लोग अमृत के पुत्र हैं पर अपने को मरण धर्मा ही मान रहे हैं नहीं मान पा रहे हैं आप नराभिमानी हैं शरीर का अभिमान लेकर के बैठे हैं और ये कहते हैं कि जगत को मैं तो समझ रहा हूँ कि जगत सुख नहीं दे सकता पर जगत के बिना काम नहीं चलता है और जगत की वासना छूटती नहीं है ऐसी स्थिति में हमारे कल्याण का मार्ग है कि नहीं है श्रुति कहती है कोई बात नहीं तुम कर आलसी मत बनना इसके लिए कर्म को नहीं छोड़ना पर एक दृष्टि लो वो दृष्टि क्या है वो दृष्टि ये है कुरवन नहीं वे है कर्माणी जिजी विषे यहाँ पर जिजी विषे का प्रयोग यद्यपि इच्छार्थक सन है फिर भी जो नराभिमानी है वो जीने की इच्छा तो करेगा ही इसलिए वास्तविकता का अनुवाद मात्र है पर श्रुति कहती है कि न कर्मणा मनारंभात स्मृति जिसका अनुवाद करती है इसी का न कर्मणा मनारंभात निष्कर्म पुरुषो स्मृति तुम निष्कर्म पद को प्राप्त करना चाहते हो पर उसकी योग्यता नहीं है कर्म मत छोड़ो इतना जरूर करो कुरवन नेवे बस वहीं पर रुक जाओ कर्म में कर रहा हूं मेरा कर्तव्य है फल के साथ उसका संबंध मत करो फल जहाँ जा रहा है जाने दो जिनको मिल रहा है मिलने दो तुम्हारा फल विस्तृत जगत में व्यापक हो जाना चाहिए तुम्हारे फल का उपयोग सभी लोग करें क्यों जो है अपने लिए फल की इच्छा करते हो और जो तुम्हें मिलना है वो तो मिलेगा ही ये ने वे है कर्माणी जी विशेष छतगुण समा और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया इसके आगे अब विकल्प नहीं करना इसके आगे विकल्प साधन के विषय में नहीं करना यही है साधन जो इस साधन को लेकर के तो मुख्य अधिकारी बन सकते हो अकामय मान बन सकते हो अभी कामना है पर इस साधन को यदि लोगे कर्तव्य पूर्वक शास्त्र दृष्टि से प्रवृत्त होगे फल को गौण कर दोगे गीता भाष्य में भगवान शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि एक बार जब धर्म की स्थापना भगवान कर देता है तो फिर अधर्म कहां से आ जाता है क्या हेतु है कहा बहुकाल का मोद्भवात ये यह जो है व्यक्ति व्यवहार करता है व्यवहार में दोनों चीजें सामने रहती हैं एक जो है वह कामना का विषय सामने रहता है और जो व्यवहार करता है उसके साथ शास्त्रीय कर्म रहता है कभी कभी धर्म पर जब धर्म को आधार बना करके हम कामना को पकड़ते हैं तब तक तो धर्म की ग्लानी नहीं होती है पर जब धर्म का अपमान करके हम कामना को पकड़ते हैं तो धर्म की ग्लानी हो जाती है और इसी ग्लानी को दूर करने के लिए भगवान का अवतार होता है मुझे यहाँ कहना है कि बता दिया इससे आगे नहीं भले ही तुम जमुना के किनारे हो समुद्र में पहुंचना चाहते हो कोई चिंता मत करो यमुना के धारा में अपने जो है नौका को छोड़ो निश्चित ही प्रयाग प्राप्त होगा गंगा की धारा तुमको प्राप्त हो जाएगी और गंगा की धारा जब तुम्हारे जीवन को प्राप्त हो जाएगी तो समुद्र में तुम निश्चित पहुंच जाओगे ये शास्त्र का एक निष्कर्ष है अब एक प्रश्न आता है यहाँ पर श्रुति जरा सावधान करती है क्योंकि बारंबार ये जीव भूल जाता है किसी चीज का निर्णय करता है बुद्धि में समझ लेता है सब कुछ करता है पर भूल जाता है इसलिए श्रुति जरा कड़क शब्द में आगे के मंत्र को कह रही है असुरिया नाम ते लोका अंधीन तमसावृता सांस्ते प्रेत्याभिगछन्ति एक भानुजन बड़ा विलक्षण प्रयोग कर दिया कहा आत्मघाती नहीं बनना चाहिए आप कहेंगे आत्मघाती कैसे कोई बन सकता है आत्मा तो अजर अमर है उसका नाश नहीं हो सकता है बात तो ठीक है आत्मा का नाश तो नहीं हो सकता है पर हमने तो आत्मा का नाश करके ही रखा है जब मैं जब हम डर रहे हैं कि मर जाएंगे तो आत्मा का तो नाश करके हमने रखा है भले ही आत्मा का नाश न हो पर यदि इस प्रकार जो है हम असावधान हैं तो वो संपत्ति किस काम की जो हमारे काम में नहीं आ रही है है कोई कहा कि एक जो है वह किसान था उसके घर में एक चोर घुस गया रात्रि का समय था चोर घुस गया किसान की पत्नी जग रही थी उसने कहा देखो अरे चोर घुस गया घर में पति ने कहा हाँ हाँ मैं भी जान रहा हूँ चोर घुस गया फिर वो पड़ा रह गया फिर चोर आगे बढ़ा पत्नी ने कहा तिजोरी का ताला तोड़ रहा है चोर कहा मैं भी सुन रहा हूँ अरे कहा आभूषण सब निकाल लिया कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ चुप रहो अरे कहा जो है वह घर से निकल करके आभूषण लेके भग गया कहा सब मुझे पता है कहा तुम्हारा पता होना न पता होना बराबर है वो जो है तुम्हारा पता होना चूल्हे में जाए उससे क्या फायदा है ऐसे हमारा वो ज्ञान आत्मा अजर अमर है हम चेतन हैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं हमारा ज्ञान यदि हमारे काम में नहीं आ रहा है तो हमारा जानना किस काम का हो सकता है इसलिए श्रुति सावधान कहती है नहीं यदि तुम उसको जो है वह सावधान नहीं होगे इसमें तो तुम आत्मघाती हो गए आत्मस्वरूप होकर के भी जो है आत्मैश्वर्य से वंचित हो तो इससे बड़ा आत्मा का अपमान क्या हो सकता है और महान का अपमान कर देना ही उसको मार डालना है कोई गले काटने का नाम जो है मारना नहीं है महान पुरुष का अपमान कर देना उसका गला काट लेना है तुम अपने स्वरूप भूत परमात्मा का अपमान कर रहे हो तुम अपने को शरीर मान रहे हो तुम मरने को डर रहे हो तुम इतना भारी अपमान कर रहे हो इसलिए तुम आत्मघाती हो और यदि तुम आत्मघाती बने रहे मनुष्य शरीर में तो बहुत बड़ी हानि तुम कर लोगे अपनी बहुत बड़ी हानि कर लोगे क्यों कि तुम अशुभ जो है पोषक हो तुम प्राण पोषक हो और शरीर पोषणार्थी सन यह आत्मान शरीर के पोषण में ही निरंतर लगा लगा रहने वाला व्यक्ति यदि आत्मदर्शन करना चाहता है तो मानो उसकी स्थिति यह है कि ग्राह को पकड़ करके नदी को पार करना चाहता है ग्राहम धिया धृत्वा नदीम तुम सही क्षति इसलिए श्रुति कहती है मेरे पुत्रों जरा सावधान हो जाओ ऐसे लोगों को क्यों प्राप्त करते हो जहां खाना पीना से आगे कुछ बात ही नहीं है तुम कल पशु बन जाओगे खाने पीने में ही लगे हो ना दिन भर दिन भर चारा चरो पेट न भरे और यही लक्ष्य है तो पशु बनने में क्या देरी है कल यदि पशु बन जाओगे तो वह जन्म तुम्हारा कौन सा जन्म हो गया वही जन्म जो है वह असूर्य जन्म हो खाने पीने में लगा रहने वाला है असुर वह प्राण के प्राण को ही भोजन देने में शरीर के ही पोषण में निरंतर लगा रहता है इसलिए उसका नाम है असुर असु माने प्राण राधातु है दान आदान में राधातु है उसी को देने में लगा है तो उसकी असुर संज्ञा हो गई और असुर संज्ञा हो गई असुर जन्म तुमको प्राप्त हो गया माने तुम जो है पशु पक्षी बन गए तो अंधीन न तमसा से असुरिया नाम लोका माने जन्म वहां पर जो है वह अंधकारपुर यहाँ अंधे ने भी कह दिया वहां तमसा भी कह दिया दोनों कहने की क्या आवश्यकता थी समर्थ गुरु रामदास जी कहते हैं एक अंधा व्यक्ति अंधे कुएं में गिर गया शिष्य ने कहा कि इसमें क्या अंतर पड़ा चाहे अंधे कुएं में गिरा चाहे उजले कुएं में गिरा वह तो अंधा है ही कहा नहीं अंतर पड़ गया अंधा है तो स्वयं निकल नहीं सकता है और कुआं अंधा है तो दूसरा भी निकाल नहीं सकता है ये अंतर है इतना अंतर है अंधेन तम भृता पशु शरीर में आप चले गए स्वयं निकल नहीं सकते हैं पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं दूसरा भी आपसे नाम का उच्चारण करा नहीं सकता है कोई भी पुरुषार्थ दूसरा भी नहीं करा सकता है इसलिए अंधे न तमसावृता कई संस्थाएं ऐसी भी आज हैं जो बहुत प्रकृष्ट तर्क आपके सामने रखती हैं वो कहती मनुष्य शरीर के बाद पशु शरीर में कोई नहीं जा सकता है यदि उनसे पूछो क्यों नहीं जा सकता है वो कहती पांच में कोई फेल हो जाए तो चार में नहीं जा सकता पांच में फेल होने वाला चार में नहीं जा सकता है मनुष्य शरीर में फेल हो गया पशु में कैसे जाएगा पर मैं कहता हूं कि यदि जो है यदि मनुष्य शरीर में ही वह पशु हो गया है तो क्या होगा उसको मनुष्य शरीर मिला है वह जो है वह मदिरा पान करता है स्त्री को भी मारता है पुत्र को भी मारता है जड़ वृक्ष के समान जो है पड़ा रहता है नाली में लेटा पड़ा रहता है वह मनुष्य शरीर में ही पशु वृक्ष हो गया जब मनुष्य शरीर में ही वृक्ष बना है तो मरने के बाद क्या वो जो है मनुष्य होगा वो तो वृक्ष अभी बन गया है तो उसको मरने के बाद वृक्ष बनना ही पड़ेगा उसको तो अपने शरीर से आगे कुछ है ही नहीं परिवार भी उसको दिखाई नहीं देता तो वृक्ष बन जाएगा खड़ा रहेगा अपना धूप या स्थान करेगा जो कुछ भी करेगा कहने का तात्पर्य है कि आ हमारे मनुष्य शरीर में जो वृत्ति है यही हमारे जो है अग्रिम जीवन का हेतु है वहाँ इस प्रकार का गणित नहीं चल सकता है कि पांच में फेल हो अरे पांच में फेल हो गया वो फेल हो गया तो चार में नहीं गया पर यहाँ तो मनुष्य शरीर में ही पशु बन गया तो जा नहीं तो ऐसे गणित को जो है अनुभव से काट देना चाहिए सब जगह तर्क नहीं चलता तर्क को अनुभव से काटा जा सकता है तर्क से तर्क से काटने पर तो फिर तर्क कट जाएगा पर अनुभव को तर्क नहीं काट सकता है इसलिए आप अपने अनुभव से काटिए कि हमारे जीवन में यदि इतने मनुष्य शरीर में हम नीचे चले गए तो फिर कैसे जो है आगे बढ़ेंगे इसलिए सावधान रख करती है श्रुति असुरिया नामती लोका अंधीन तम सावृता पांचते प्रत्याभिगछन्ति शरीर छोड़ करके वह ऐसे जन्म को प्राप्त करते हैं कौन एक चात्महनो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी आत्मा को मार दिया है जिन्होंने आत्मा के विषय में उपेक्षा कर दिया है आत्म तत्व का अपमान कर दिया है बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है उन्होंने क्योंकि मनुष्य शरीर मिला था आत्मा के पहचानने के लिए जो काम कहीं नहीं किया जा सकता वह मनुष्य शरीर उसके लिए मिला है और जो काम दूसरे जगह हो सकता है उसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है अब इसके बाद यहाँ पर सावधान कर दिया अब दो जो मंत्र थे वही दो मार्ग हैं ये दो मार्ग ऐसा नहीं समझना कि निकृष्ट मार्ग है और उत्कृष्ट मार्ग है एक मार्ग है ज्ञान मार्ग जिसको सीधे ले जा रही है समुद्र में और जमुना जमुना भी ले जा रही है परंतु प्रयाग होकर के जाएगी एक स्टेशन प्रयाग का है वहां पर होकर के जाएगी गंगा के साथ मिलकर के जमुना भी गंगा हो जाएगी तब कर्म मार्ग नहीं रहेगा इसी को गीता में संकेत किया अरुक्षर मुनेर योगम कर्म कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ से तस्वीर समक कारण वही है दूसरा नहीं है जिसके लिए श्रुति कहती है कि तुम्हारे लिए कर्म मार्ग है उसी को श्रुति कहती है कि योगारूढ़ हो गया तो समकारण मुच्यते अब आप गंगा के धारा में आ गए पर पहले कर्म को छोड़ देंगे तो गंगा के धारा में नहीं पहुंचेंगे नौका को गंगा के धारा में पहुंचाना है तो जमुना में छोड़ना पड़ता है क्योंकि हम जमुना के किनारे हैं अब इसके बाद दो प्रकरण जो प्रथम दो मंत्र के दो प्रकरण हैं ये दोनों प्रकरण अलग अलग है अलग अलग इसलिए कहे जाते हैं कि एक साक्षात जो है वह मार्ग है और एक परंपरागत मार्ग है और परंपरागत जो मार्ग है वह मुख्य धारा में जाकर के ही समुद्र में पहुंचता है और कहीं एक साथ दोनों का वर्णन हम करने लगे तो भ्रांति हो सकती है इस भ्रांति को दूर करने के लिए उपनिषद दो प्रकरण अलग कर देता है आठवें मंत्र मंत्र का मंत्र तक का जो प्रकरण है वह जो कहा था ईशावासी मिदग्गुम सर्वम वह ईश्वर स्वरूप ईश्वर के द्वारा जो है वह सारे जगत नाम रूपात्मक को आच्छादित करना है पर ईश्वर की पहचान क्या है बहुत बड़ी समस्या यही है एक बहुत बड़ी समस्या है ये श्रुति के सामने इसीलिए लोगों को भ्रम हो जाता है कि श्रुति कहीं एक प्रकार से निरूपण करती है कहीं दूसरे प्रकार से निरूपण करती है पर श्रुति क्या करे ओ माता क्या करे मैं कभी कभी दृष्टांत देता हूँ कि आपके घर में मान लीजिए कि कोई एक बालक है जो कभी सिनेमा नहीं देखा आजकल ऐसे बालक की कल्पना ही करनी पड़ेगी वास्तविकता तो शायद ना हो पर उसने कभी देखा नहीं पर उसने सुना है क्या सुना है एक पर्दा होता है सिनेमा में एक पर्दा होता है उसके मन में बड़ी भारी जिज्ञासा उठी कि पर्दा कैसा होता है चित्र देखने की उसके अंदर वासना नहीं है चित्र देखने की उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है पर पर्दा को जानने की जिज्ञासा है एक दिन वो पर्दा देखने के लिए पिता के साथ चला गया सिनेमा घर में वो चित्र देखने के लिए नहीं गया पर्दा देखने के लिए गया इसलिए बैठते ही उस समय चित्र चल रहा था बैठते ही उसने पिताजी से पूछा पिताजी इसमें पर्दा कौन है पिता जानता है पर्दे को पर समस्या बड़ी गंभीर है जिस तरफ वो अंगुली उठाएगा उस तरफ कोई न कोई चित्र तो है ही अब वो बालक उस चित्र को पर्दा समझ लेगा कैसे अंगुली उठावे वह जिधर अंगुली उठाता है उधर चित्र है यदि वो कहे कि ये सब जो दिख रहा है यह पर्दा है तो सारे चित्रों को मिलाकर के पर्दा समझ लेगा पर पर्दा उसको समझ में नहीं श्रुति के सामने भी यही कठिनाई है सुसुप्ति में जहां चित्र नहीं है वहां उपदेश करने का माध्यम नहीं है वहां हम समझा नहीं सकते और जिस ज, जिस समय जिस जागृत अवस्था में समझाना है वहाँ सब तरफ चित्र ही चित्र है और जिज्ञासी पूछता है कि इसमें पर्दा कौन है श्रुति के सामने गंभीर समस्या है और माता है एक प्रकार से समझाती है दूसरे प्रकार से समझाती है समझाने में भ्रम हो सकता है इसीलिए बारंबार कई प्रकार से समझाती है और यही एक रहस्य है कि जिसके लिए आपको समाधि में जाना पड़ता है एक बार अंधकार रहित चित्र रहित दशा में आप पर्दे का साक्षात्कार कर लें फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं है आप अंधकार में भी पर्दे को देख सकते हैं आप चित्र दशा में भी पर्दे को देख सकते हैं पर एक बार समाधि अवस्था में पर्दे का साक्षात्कार हो जाना चाहिए एक बार आपकी वृत्ति अंतर्मुख हो जाए आप जो है वह निद्रा में न जाएं और जो है अंतर्मुख हो करके आत्म साक्षात्कार कर लें विषय तो बढ़ता जाता है मैं क्या करूं ये कठिन जो है समस्याएं हैं आप आप अंतर्मुख होंगे तो आपको क्या आत्मदर्शन हो जाएगा कैसे होगा ये आपके पास इंद्रियां जो हैं आपके पास जो मन है ये तो माइक वस्तु को दिखाने वाले हैं ये जहां से प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं उस आत्म सूर्य को क्या ये प्रकाशित करेंगे क्या चंद्रमा जो कि सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर रहा है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके जगत को भले ही प्रकाशित कर रहा हो पर क्या सूर्य को भी प्रकाशित कर सकेगा वो पर रहस्य है अमावस्या का एक पर्व है अपने यहाँ जो पर्व हैं वो ऐसे नहीं रख दिए गए हैं वो बड़े रहस्यात्मक पर्व होते हैं अमावस्या को चंद्रमा जो है वह सूर्याभिमुख होता है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जो आता है उस प्रकाश का मुख सूर्य के तरफ होता है जगत के तरफ नहीं होता है भले ही उस प्रकाश से सूर्य प्रकाशित न हो पर वही एक क्षण है कि जिस क्षण में चंद्र प्रकाश अपने वास्तविक सूर्य प्रकाश के साथ भूत हो जाता है ये समाधि की अनुभूति है चंद्रमा मन है सूर्य आत्मा है ये चंद्रमा जो है रूपी मन सूर्य के प्रकाश को लेकर के जगत को प्रकाशित करता है पर अमावस्या के दिन जब सूर्याभिमुख होता है तभी वह अपने को समझता है तभी वह सूर्य को समझता है इसके पहले न अपने को समझता है न सूर्य को समझता है और उस क्षण की जो अनुभूति है वह अनुभूति काटी नहीं जा सकती है इसलिए जगने पर भी वह अनुभूति निरंतर बाधित करती रहती है जगत को एक बार जब ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं तो समस्या का अंत हो जाता है पर जब तक ऐसी स्थिति में हम नहीं पहुंचते हैं तब तक तो जिज्ञासा की शांति के लिए श्रुति बारंबार समझाती है अब देखो कैसे ढंग से आपको ईश्वर तत्व आत्म तत्व का लक्षण आत्म तत्व को दिखाना चाहती है श्रुति यहाँ दूर से नहीं सीधे दिखाना चाहती है पहले श्रुति ने कह दिया अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान् अत्येति तिष्ठत् नपो मातरिष्वा दधाति का सावधान हो जाओ आत्मा को जानना चाहते हो पर्दे को जानना चाहते हो संपूर्ण विश्व की सत्ता को जानना चाहते हो कहते हाँ जानना चाहते हैं उसका क्या लक्षण है का अनेजत ये लक्षण एज्री कंपनी अनंत चित्र दौड़े अनंत चित्र दौड़े पर पर्दा में कंप नहीं आया पर्दा कंपित नहीं हुआ चलित नहीं हुआ चित्र में इतनी गति रही कि जो है उस गति हमारे कानों में घुसी परंतु पर्दा को कुछ लगा नहीं धू धू करके पर्दे पर अग्नि जली पर अग्नि की गर्मी पर्दे को स्पर्श नहीं कर पाई बाढ़ के भयंकर दृश्य पर्दे पर आए गांव के गांव बहते चले गए पर पर्दा गीला नहीं हुआ तुम्हारा आत्मा ऐसे वो अनेजत है अनंत काल से सृष्टि का चित्र दौड़ रहा है एक जा रहा है दूसरा आ रहा है कभी शांत भी हो जाता है प्रलय कांत में प्रलय काल में दृश्य शांत भी हो जाता है पर ये दोनों जो है ये सारी की सारी जितनी गति हो रही है इसमें पर्दा अनेजत है आपका स्वरूप जो का तो अकंपित है उसमें स्पंद ही नहीं हुआ एक लक्षण बता दिया परंतु कहीं आपको समझ में बात आ गई कि ठीक है आत्मा तो अनेजत है पर ये जो जगत दिखाई दे रहा है ये तो बड़ी तेजी से दौड़ रहा है तो एक आत्मा हो गया एक जगत हो गया और जगत में जो है अपनी स्वतंत्र शक्ति है ये जो है चलने की और जो है वह तीनों गुणों के रूप में परिणत होने की स्वतंत्र शक्ति है जगत में प्रधान इसी को लेकर के सांख्य दो विभाग कर देता है पुरुष और प्रकृति पर वेदांत कहता है नहीं मनसो जवियो ऐसा नहीं समझना मन में भी जो ये जो है दौड़ने की जो गति मिल रही है रूपी चित्र को इसका केंद्र वो पर्दा है पर्दा जड़ नहीं है वह जो है इसका भी केंद्र है इसी को केनोपनिषद में कहा जब शिष्य ने कहा केने शीतम पतति प्रेषितम मन कौन इस मन को दौड़ा रहा है जो अनेजत है उसी से शक्ति प्राप्त करके ये मन दौड़ रहा है इसलिए मन कितना भी दौड़े पर उसको उसकी उसकी गति को प्राप्त नहीं कर सकता जहाँ मन जाएगा वहाँ पहले से ही है मन सो जाइए निरुपाधिक रूप से वही तत्व अनेजत है सोपाधिक रूप से वही जो है वह बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है यही तो जगत का चित्र है यही नाटक इसलिए यह पृथक नहीं है कहा कि इतनी ऐसा क्यों आप बता रहे हैं ऐसा क्यों नहीं बता देते ये आत्मा है ये जगत है कहा ऐसे कैसे बता दे भाई ऐसे बता पाता तब तो जो है बता ही देता कि ये गऊ है ये भैंस है पर यदि आत्मा अपने से भिन्न होता वह ईश परमात्मा अपने से भिन्न होता तब तो मैं ऐसा जरूर बता देता पर अपने को कैसे बताया जा सकता इस प्रकार से नैन देवा आपनुवन ये इंद्रिया जो हैं ये देवता हैं ये ये निरंतर जो है वह विषयों को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होती रहती हैं पर आज तक किसी इंद्रिय ने उस आत्मा को ग्रहण नहीं किया क्योंकि जो है इंद्रियों का भी वह आत्मा है नैनत देवा इनत आत्म आत्म तत्व इस आत्म तत्व को देवा इंद्रियाणी ये इंद्रियाणी जो है वह न आपनुवन इसको प्राप्त नहीं कर पाए नैन देवा प्राप्त क्यों नहीं प्राप्त कर पाए अपूर्वम मर्षक आकी हो सकता है फिर बहुत ये इंद्रियों से भी तेज दौड़ने वाला होगा तो आगे निकल गया होगा कहा जहां ये इंद्रियां जाती हैं जहां चित्र दौड़ता है वहां पर्दा पहले से ही है जहाँ चिंजे दौड़ करके जाती हैं इंद्रियां वहाँ पर्दा पहले से ही है वो तो पहले पहुंचा हुआ है तो उसको कैसे प्राप्त करेगी वहां तो पहले से हुआ है इनकी गति जो है वह कुंठित हो जाती है तो इसलिए अतीत पंथानम तवच महिमा वांग मनसयो मन वाणी के पहुंच से जो है आत्म तत्व अलग है तो मन वाणी का विषय कैसे बन सकता है संकट एक ही है जिसकी चर्चा हो रही है वह अशब्द पद है पर हमारे पास समझाने का साधन शब्द शब्द के द्वारा अशब्द पद को जो है हम समझाना चाहते हैं श्रुति शब्द के द्वारा अशब्द पद को तक पहुंचाना चाहती है इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है क्यों कि शब्द का विषय नहीं है और स्वामी जी रामचरित्र मानस में बड़ी ही सावधानी से इस बात को कर बहुत सावधान है मैं देखता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी इतने सावधान है निगम और आगम के विषय में उन्होंने कहा ईश्वर अंश जीव पहले कह दिया था सुनो तात यह अकथ कहानी एक कहानी कहने जा रहा हूं कहा कहो कहा अकथ है अकथ है तो फिर क्यों कैसे कहोगे सुनो तात तात ये एक कहानी सुनो कहा कहो कहा अकथ है अभी अकथ को क्यों कह रहे हो जब अकथ है तो कहो ये कैसे समुझत तो बने न जाए बखानी तुम सावधान हो तो समझ सकते हो पर वाणी का विषय न होने से वाच्यार्थ नहीं बन सकता है कहा कैसे नहीं बन सकता है कहा देखो सुनो कहानी ईश्वर अंश जीव कहा मैं समझ गया कहा क्या समझे तुम कहा ईश्वर का अंश जीव है कहा नहीं समझे कहा नहीं समझे क्यों कि ईश्वर का टुकड़ा जीव है तब तो कटते कटते ईश्वर ही खत्म हो जाएगा तुम नहीं समझे कि ईश्वर का सजीव कैसे है इसलिए कहा कि ईश्वर सजीव अविनाशी अब अविनाशी है इधर अविनाशी कह दिया ईश्वर अंश जीव कह दिया तो अब समझने पड़ेगा आपको कि अंश कैसा हो सकता है और जो ईश्वर का लक्षण चेतन अमल सहज सुख राशि तो आप जब इसको विचार करेंगे तब तो अंश समझ में आएगा नहीं तो अंश समझ में नहीं आ सकता अंश के द्वारा एक तत्व लक्षित किया जा रहा है एक तत्व लक्षित किया जा रहा है कि जीव का स्वरूप ईश्वर का स्वरूप एक कैसे बड़ी सावधान गोस्वामी जी है इसको तो मैं आगे नहीं लूंगा तो एक पंक्ति बोल देता हूँ इतने सावधान है आगम के विषय में भी ये तो श्रुति के विषय की सावधानता हो गई आगम के विषय की उनकी सावधानता ही है कहते सो माया बस भयो गोसाई गोस्वामी जी ने नहीं कहा कि माया ने उसको बस में किया माया ने जीव को बस में किया ऐसा नहीं कहा क्योंकि जीव तो ईश्वर है उसको माया कैसे बसनी करेगी कहा माया बस भयो माया के बस हो गया है आगम के अनुसार जो है माया आपको बस में नहीं कर सकती आप चेतन हैं आपको कैसे बस में करेगी तो कहा फिर हम बंधन में क्यों हैं कहा बंधन में इसीलिए हैं जब तक आप बंधन में रहना चाहेंगे तब तक आपको मुक्त कोई नहीं कर सकता है पर जिस क्षण आप जो है वह बंधन से मुक्त होना चाहेंगे उस क्षण आपको बंधन में कोई नहीं बंधे कहीं ना कहीं हम जगत को पकड़े हैं मुक्त नहीं होना चाहते समस्या इतने हैं खैर आगम को वेदांत का अंतर में नहीं बताऊंगा यहाँ यहाँ तो जो है अनेज अनेज अनेजदेकम मनसो जयो नैनत देवा प्राप्त पूर्व मर्षद तद्धावतोन्यान अति सारा चित्र बड़ी तेजी से मन बुद्धि इत्यादि जगत बड़ी तेजी से दौड़ रहा है ये जगत बहुत तेजी से दौड़ता है कब आप शिशु से बालक हो जाते हैं कब बालक से जो है वह वह आप तरुण हो जाते हैं और कब वृद्ध हो जाते हैं कब चिता पर चले जाते हैं बड़ी तेज गति से जगत घूम रहा है सब बहुत तेज गति से घूम रहा है इसलिए बहुत तेजी से घूमता है मैं कभी कभी वृद्ध लोगों से कहता हूँ आजकल के वृद्ध लोग थोड़े परेशान रहते हैं घर में ज्यादा परेशान रहते हैं सासू भी परेशान रहती है तो पिता भी परेशान रहता है सासू बहू से परेशान रहती है तो पिता पुत्र से परेशान रहता है मैंने सोचा कि शायद इसीलिए बानव प्रस्थाश्रम की व्यवस्था अपने यहाँ बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था थी नहीं तो मृत्यु तक पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं हो सकता है पर मैं कहता हूं तुम क्यों दुखी होते हो जिसको तुमने आत्मा माना वो तुम्हारा नेत्र आज तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है तुम्हारा हाथ तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है तुम्हारा कान तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है जिसको आत्मा माना था यदि पुत्र नहीं माना बहू नहीं मानी तो क्या बिगड़ गया तुम्हारा इसमें क्या तुम्हारा अपमान हो गया कहा तो न्यानत्ति तिष्ठ ये इतनी गति चल रही है पर कोई भी पर्दे कोई भी चित्र आज तक पर्दे को पार नहीं कर पाया पार कर ही नहीं पाया पार करेगा कैसे सत्ता तो पर्दा दे रहा है पार कैसे करेगा जगत कितनी भी तेजी से दौड़े पर आत्मा को पार नहीं कर सकता है इसके बाहर नहीं जा सकता है कैसे जाएगा लेकिन ये सारा का सारा होते हुए भी वह एक रस कूटस्थ है उसमें कहीं भी किसी प्रकार की गति किसी प्रकार का संबंध आया ही नहीं कठिन विषय है श्रुति फिर कहती है फिर से समझो नहीं समझ में आया तद तन नहीं वही देखो आत्मा इन चित्रों के रूप में बड़ी तेजी से चल रहा है संसार रूपी चित्र के रूप में एजति पर वास्तव में न ये जति वास्तव में वो जो का त्यो है वह कहीं भी कंपित होता नहीं है तद एजति तद नहीं जति तद दूरे तदवंती के आप बहिर्मुख हैं सैकड़ों जन्म आपके बीत जाएंगे पर आत्मा का दर्शन हो नहीं सकता आपके लिए दूर से दूर है हजारों जन्म की जन्म का जो समय बीच में है वह पार हो जाता है पर आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता है व्यक्ति पर वह अंदर से वह नजदीक से नजदीक है जिज्ञासु के लिए वह हृदय में ही है अपने अंदर ही उसकी अनुभूति होती है इसलिए वह तद दूर तद उ अंतिके वह उससे समीप कुछ हो ही नहीं सकता है जहां आपको चित्र दिख रहा है वही पर्दा है जहां आप जो है जहां से आपको स्रोत मिल रहा है प्राण और मन ज्ञान और क्रिया शक्ति का स्रोत जहां से मिल रहा है जो उसका आधार है सत्ता है वही आत्मा है वही आपका स्वरूप है आप अंदर ही उसका अनुभव कर सकते हैं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं अंतर्मुख के लिए वह नजदीक से नजदीक है बहिर्मुख के लिए वह दूर से दूर है तदूरे तदवंती तदंतर से सर्वस्व ये सारा का सारा जो जगत आपको दिखाई दे रहा है आप जरा चित्र का भेदन करें चित्र का भेदन करके देखें वही आपको आत्मदर्शन होगा पर्दे को अलग से देखने की आवश्यकता नहीं चित्र को भेदन करने में यदि आप समर्थ हो जाए तो आप जो है सर्वत्र पर्दा ही दिखाई देता है दूसरी चीज है ही नहीं तो दिखाई क्या देगी तदंतर से सर्वस्व और कहा बाहर तो सर्वस्या से बाहर बाहर भीतर की कल्पना है एक आकाश में हम बाहर भीतर की भले ही कल्पना कर लें पर उसमें किसी प्रकार बाहर भीतर की कल्पना हो नहीं सकती है श्रुति को आलस्य नहीं है माता को बच्चे को सिखाने में किसी प्रकार का आलस्य नहीं आता है इसलिए एक शब्दावली को लेकर के दूसरी शब्दावली को लेकर के आपको तत्व लक्षित किया जा रहा है तद दूरे तदवंत के तदंतर से सर्वस्व तद सर्वस्या से बात अब श्रुति और आगे बढ़ती है और बुद्धि को हमारी एकाग्र करती है यस्तु सर्वाणी भूतानी आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विजुगुप्सते यहाँ पर माध्यन्दिनी शाखा में थोड़ा सा भेद है बाकी मंत्र तो वैसे है पर बीजगुप्त सत्य की जगह बीजकित सत्य ऐसा पाठ है अर्थ दोनों का एक ही प्रकार का है कहा यस्तु सर्वाणी भूतानी आत्मनिवानुपश्यति जब आप शरीर परिच्छेद को छोड़ देंगे तब आपका स्वरूप व्यापक हो जाएगा और जब आपका स्वरूप व्यापक हो जाएगा तो सारे भूत आपको अपने अंदर दिखाई देने लगेंगे और अंदर नहीं दिखाई देने लगेंगे एक और भी रहस्य है एक महात्मा एक जगह वो प्रवचन के लिए गए थे उनको बना दिया जो है अध्यक्ष अब वक्ता बोलते बोलते दस बजा दिए अध्यक्ष को तो बाद में बोलना पड़ता है अब जनता उठ करके जाने लगी और जाने लगी अब उनके लिए समय ही नहीं रहा उन्होंने देखा सब जनता चली जाएगी उन्होंने कहा जाने वाले जल्दी चले जाओ क्योंकि मुझे बोलना नहीं है केवल आत्मदर्शन कराना है आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराना है इसलिए जाने वाले जल्दी चले जाओ क्योंकि मैं प्रवचन नहीं करूंगा अब जो जा रहे थे बैठ गए सभी के सभी बैठ गए उन्होंने एक रुमाल ले ली और कहा देखो आपको कुछ दिख रहा है कहा हाँ रुमाल दिख रही है कहा नहीं और कुछ भी दिख रहा है कहा और कुछ भी तो नहीं दिख रहा है कहा नहीं ध्यान से देखिए और कुछ भी दिख रहा है कहा नहीं दिखाई दे रहा है कहा प्रकाश देखे बिना रुमाल देख सकते हैं प्रकाश देखे बिना रुमाल देख सकते हैं आत्म प्रकाश के बिना आप जगत देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं यस्तु सर्वाणी भूतानी आत्मनेवानुपश्यति आत्मा में देखता है आत्मा आत्म ही सत्ता है और आत्मा ही प्रकाश है इसलिए जो है वह उसके साथ जिसको कहा केनो केनोपनिषद में प्रतिबोध विदितम मतम यही आत्मदर्शन का उपाय है आपको घट दिख रहा है पट दिख रहा है मठ दिख रहा है पर प्रत्येक बोध में आत्मा दिख रहा है प्रत्येक बोध के साथ आत्मा का साक्षात्कार करना पड़ेगा प्रत्येक बल्ब के साथ विद्युत का साक्षात्कार करना पड़ेगा यदि प्रत्येक बल्ब के साथ आप विद्युत का साक्षात्कार नहीं करेंगे तो विद्युत को कैसे जानेंगे